लगा दी हड़ताल उस पर कुछ नहीं पता लगा और आश्चर्य कि भोजन सामग्री साल भर में बासी नहीं हुई वो वो जैसी ताजी रही जो कि जो अधिकृत कोई साग में तरकारी में किसी चीज में जरा सी भी कोई विकृति पैदा हुई हो सो नहीं जो कि जो सब के सब वो कुछ पल्लवित भोजन पात्रों की जो चमक थी जो पत्ता जैसे चमक रहा था पहले वैसे अब चमक रहा है और जैसे मुंह में कोई के ग्रास था चबा रहा है कभी जो कभी चबा रहा वो नहीं गया अंदर साल भर हो गया और किसी के ग्रास हाथ में तो हाथ में जो का चम अब ये कहते हैं कि भाई एक या थे दे प्राणेशम मन कृष्ण माया हता राजन क्षणार्थम मिनिर्भका किम किम विस्मरती हम माया मोहित चेतसा जन्मूतम जगत सर्वभीक्षण विशतात्मकम एक वर्ष बीत गया बीते यद्यपि वर्ष एक काल बिछड़े सुंदर मोहन लाल तदपि अर्ध छिन्न मानत भय अद्भुत प्रभु की माया छय कवन कवन माया नहीं भूले जगत हिंदोरे में बहु झूले ये कछु माया करी नहीं मुहे प्रभु की इच्छा करी अति सोहे तो ये इस प्रकार से ये जीव बड़े बड़े लोग माया में भूल जाते हैं दुर्त्य माया में यद्यपि जगत के जीवों की इनकी दशा नहीं है ये तो स्वजन मन मोहिनी माया यहाँ पर ये हम लोग सब भूले हुए हैं ये स्त्री मेरी पुत्र मेरा धन मेरा मकान मेरा बंधु मान दो मेरा ये मेरे मेरे का जो ये बंधन है ये क्या है ये माया है आचार्य लोग ऋषि लोग संत लोग कहते हैं कि माया छोड़ो मोह निशा से जागो पर उनके कहने पर भी न तो वो कहने वाले ही जागते हैं और न वो सुनने वाले ही जागते हैं ये माया तो ये तो बहिरंगा माया का प्रभाव और यहाँ तो योग माया का लीला विलास भगवान की सोमन मोहिनी माया अंतरंगा शक्ति तो यहाँ पर ऐसी चीज हो जाए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं तो भगवान वहां पर आ गए ऊंचुश्च सूरदस कृष्णम स्वागतम तीतरंसा नीको भोजित कवला यही तो साधु पूज्यता बड़ा आनंद उच्छ्वास आ गया कन्हैया कन्हैया आ गया ना अब सबकी आंखें लग गई उसी तरफ पड़कें पड़नी बंद हो गई और खाना पीना तो बंद था ही अब और बंद हो गया यूं देखने लगे वो सबको सब बहने लगे उस आनंद रस का लोलिनी में बह गए सब अब सब खड़े हो गए अरे बछड़े खो गए थे तो गया जल्दी पर आ गया ना तो इसको हृदय से लगाना है बछड़ों को ले आया ना सब खोद खाट के ले आया तुरंत ले आया तो उठे लोग सब उठ खड़े रहे उठ करके और अपनी अपनी भुजाएं उनके गले में डाल दी सभी लोग बोले हम डाल रहे हैं बोले हम डाल रहे हैं एक आया उसने तो वो तो गले में बाह डाल के पकड़ के झूल गया गले में छोटा बच्चा झूल गया कन्हैया भैया के कंठ देश में झूल गया अब ये बहिर्मुख लोगों की तो बात ही क्या है वो तो इस रस का की कभी कल्पना नहीं कर सकते ब्रह्मा के लिए भी ये मोह की वस्तु बन गई थी चिपट गए बच्चे कोई पैर के चिपटा कोई गले लग गया किसी ने छाती से लगा लिया किसी ने अपना सिर अपना अपना सिर पास लगा लगाया सिर हाथ तो श्याम सुंदर ने अपना वो दही भात का हाथ उसी सिर पर रख लिया तमाम दही अब वहां पर आनंद का निनाद हो गया मिलन सुख तो शिशु ने कहा एक एक बोला रे कन्हैया भाई तेरी बात तो सच्ची निकली देख ली तेने कहा था कि मैं ढूंढ लाऊ और हम हम तो भाई निराश हो चुके थे कि बछड़े दिखती नहीं मालूम कहाँ चले गए और तू तो भैया बड़ा सयाना है चतुर है ना तू तभी तो हम तुमको मानते नहीं तो मानते क्यों तेरे जैसे बहुत बच्चे फिरते हैं दूसरे ने कहा अगर तुमको पता नहीं मैं ज्योतिषी ज्योतिषी भविष्य वक्ता मैं कह दिया था जाने को कन्हैया को ये जाके जहाँ बंसी बजा रहेगा तो इससे बचर आ जाएंगे मेरी बात बहुत सच्ची नहीं हुई तो इतने में बच्चों ने कहा देख कन्हैया देख देख भैया तू नहीं आया ना देख हमने मुंह में ग्रास भी नहीं लिया तो हमारे हाथ में जो ग्रास था वो जो का तो देख लिया हाथ नहीं है अब तेरे बिना खाते कैसे बता भाता नहीं और क्योंकि तू भी तो गया था ना वहां पर तेने कुछ खाया थोड़ी था क्या मुझे वो जो कहते हो वो दही बात हाथ में तेने खाया तो नहीं ना तो, तो बचा बता तो, तो हम कैसे खाते तो लौट आया बड़ा अच्छा हुआ तो अब तो जल्दी से खाना शुरू कर दो हमको मुख लगी है तो मोह तो सब कहत हैं बाल बेगी आए मोहन लाल एको कवल न पावन पायो भैया तो भी जाए न खायो भैया तुम्हारे बिना खाया नहीं जाता है? तुम गए अब तुम्हारे बिना हम खा लेते तुम तो जाओ तुम तो बछड़ों को ढूंढो और हम बैठे बैठे खाएं तुम तो कह गए थे पर हमसे खाया गया नहीं तो तय हूँ तो हम बिन नहीं खायो हाथ केवल वैसे ही नहीं आयो अरे बड़े हम खा लेते कैसे खा लेते तेरे तो हाथ में ग्रास था ही तो तुझे कौन रोकता था वहां पर कमाल तो के पेड़ के नीचे तू खड़ा था खा लेता तो हमारे दिन कैसे खाता भैया तू हमने खाया तू कैसे खाता तो भैया अब आ जाओ बैठ जाओ अब सब लोग यही तो साधु भुजतान अब बैठो हम सब लोग खाएंगे मजे में अब महाराज सब लगे हंसे हंसाने फिर वही वही हंसी का फवारा छूटा सब लोगों ने मजे में खाया और वही लीला बिहार कतु हसन ऋषि के वृत्त सहार बताई ही परमानंद में भरे हुए तमाम शिशु कभी कमरे के हाथ पर रखें कभी उसके मुंह में रख दें कभी भगवान उनके मुंह में रख दें हम संस्कर और जिसको जो चीज अच्छी लगे बोलिए तो कन्हैया को देंगे कौन ये कन्हैया को देनी है इसी प्रकार मंडल बन के तमाम बैठ गए और तमाम खाने लगे बड़ा आनंद भोजन हुआ सुर भी गया और ब्रह्मा का मुंह भी मिटा अब मजे में खाना है तो सब मजे में खाने लगे अब ब्रह्मा जी की बड़ी विचित्र दशा लोग में गए मन में तो डर लग रहा था कहीं फिर बार बाहर न निकाल दे पर अब तो पहरेदार वहाँ से हट चुका अब तो, वहां सा का वहाँ का वो दृश्य जो था पलट गया वो जो ब्रह्मा थे वो ब्रह्मा अब नहीं रहे अब तो आसन शून्य था ब्रह्मा का तो ये ब्रह्मा जी गए तो डरते डरते पहरेदार ने जाते अभिवादन किया बोले ठीक है बोले महाराज चले गए थे आप फिर हाँ बोले में गया था ये पता नहीं कि वो तो गए ही तो ब्रह्मा जी वहां जा करके अपने आसन पर तो बैठ गए परंतु तो जिनका मन श्याम सुंदर ने हर लिया वो कहीं भी रहे मन में वो रिश्ते तो सही रहते तो आज ब्रह्मा जी का क्या हुआ कि बीच के लोग सब तप लोग जन लोग नर लोग स्वर्ग लोग ये ये भूवर लोग इस सारे लोगों का जो व्यवधान था बीच में ये मानो तिरोहित हो गया हट गया ब्रह्मा जी को बस वही दिखाई दे रहा है पुलिन भोजन यमुना के तट पर भगवान श्याम सुंदर ये अपने सखाओं के साथ बैठे हुए हंसते हंसाते हुए भोजन कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी का धैर्य फिर शिथिल हो गया ब्रह्मा जी के हृदय से रस में यह हाहाकार फिर निकली करे आज क्यों गया वहां से पर रहता कैसे तो उनका इशारा मिल गया तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कहीं मुझे कौआ बना दिया होता है? कहीं कौआ बना दिया होता प्रार्थना सुन के मेरी मेरे सौभाग्य की सीमा रहती नहीं वो अरे मनुष्य तो नहीं खा सकता न मालूम कितनी कितनी है ये ब्रजवाड़े तो खाते हैं ये ब्रजवासी लोग तो पर श्याम सुंदर के अधरामत से सिक्त उनका उच्छिष्ट कौआ खा सकता था तो कितना मेरा सौभाग्य होता अगर मैं कौआ बन गया होता और ब्रजराज कुमार के अगर सुधा से वो सिक्त वो दधि मिश्रित दही भात वह अन्न का जो बिखर गए मुंह से बच्चे ही हैं वो यही जिथे तो गिलास पूरा पूरा मुंह में गया किसी ने लगा दिया किसी ने ठूस दिया कहीं ऐसे कोई कर दिया और तमाम गाल पर अन्न के दाने लगे मुंह पर लगे होठों पर लगे और बदन पर लगे दही कहीं छिड़ा कहीं कुछ कहीं कुछ बच्चे बच्चे तो खा रहे हैं तो सोचा माने की कहीं कौआ बनता तो अन्न कणों को अपनी चोट से चयन करके और मैं निहाल हो जाता शीत जो पड़े दही रस भरे सदन जाय विध लालच खरे काटन भयो फिरे वितरातो चुन चुन सुंदर सीथ न कि कौआ कहीं होता तो वहाँ जो जूठन के कण पड़े उनको चुन चुन कर खाता और निहाल हो जाता ये ब्रह्मा के पद को तो धिक्कार ये ऊंचा बनना ये बाधक बन गया इसमें अरे कौवे का शरीर बहुत नीचा कौवा पक्षियों में चांदार पर ये आज जो कौवे बन के वहां पर यमुना पुलिन पर जो आज उड़ रहे हैं क्या ठिकाना है उनके सौभाग्य का कोई पता धो रही है कितना उनका सौभाग्य वो सब तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कौए नहीं है वहाँ पर जो आज ये तो कोई प्रेमी जन भगवान के हैं जिन्होंने भगवान की कृपा से अवसर पाया है वहाँ कौआ बन के जाने का ये महाराज एक एक रजकण एक एक वृक्ष का पत्र एक एक हवा की लहर ये सभी परम भाग्यवती हो, हो जाती हैं भाग्यवान हो जाते हैं भगवान का स्पर्श पाकर जहाँ ये भगवान जिधर से निकले हवा ने स्पर्श किया बस पवन देव का जीवन धन्य हो गया त्रिनाकुर भूमि का धूल कण ये सब के सब धन्य हो जाते हैं भगवान तो ब्रह्मा जी अब मन ही मन कौवा बन गए वैसे तो बन नहीं सके क्योंकि भगवान अंतर्यामी ही उनको ऐश्वर्य भी तो इनको ज्ञात था कि जान लेंगे कि ये कौवा है तो फिर कहीं निकाल देंगे बोले इसको इस कौए को बाहर करो तो अब मनी मन ब्रह्मा वहां का शीतन शीत खाने लगे ब्रह्मा की दिशा इधर जो है भगवान ने कहा भैया देखो अब सांझ होने को आई है मैया वगैरह सब देख रही होंगी बात तो एक ने कहा बोलो उस अजगर को तो देख लें क्या हाल है तो योग माया वो तावत काल पर्यंतम तदाचादित नासी रीति गीयम योग माया की कृपा से साल भर हो गया तो योग माया की छाया उसको ढक दिया वो सारा का सारा अविकृत बना रहा जो का त्यों तो भगवान नंद नंदन अपनी सखाओं को साथ लिए उसके पास गए वन भोजन के अंतर ब्रज को लौटते हुए इच्छा से ही उसी मार्ग से आए जहाँ वो विशाल सर्प अजगर वो प्राण शून्य उसका शव पड़ा हुआ था और बोले भैया देखो तो ये देखो तो पड़ा हुआ है ऐसे कैसे ही मरा हुआ सांप जब देख तो लो तो बच्चों ने देखा और मारे हर्ष के पुकार उठे अहो महोज्वलम न खेला गहवर मदम जातमिति अरे रे भैया ये तो हम लोगों के खेल के लिए गुफा ही बन गया ये रोज खेलेंगे इसमें आकर बड़े सुंदर ये गब्बर हो गई हम लोगों के खेल के लिए खेल गब्बर बन गया इधर भरा देखो चमक रहा है ये तो बड़ी सुंदर जगह बन गई कन्हैया बोले अच्छा अब इसमें कल खेलेंगे आज तुमने देख लिया ना तुम तुम लोगों के मन में खेल की चीज आ गई तो भगवान दर्शेश चरमागम निवृत्त बनाज व्रजम चले घर अजगर ही गरसते ही नहीं सरसते सुगंध बरसते भगवान अब चले इधर महाराज कुछ थोड़ी देर हो गई थी और आज भी जन्म नक्षत्र ही था उनका दाऊ जी का वही पुनरावृत्ति है तो दाऊ जी आज भी नहीं आए थे तो महामरकत मणि के समान सुंदर जिनके श्री अंगों की बड़ी आभा सुंदर शोभा भगवान के रसमयी चेष्टा और ये ब्रज रमणियों की प्रतीक्षा ये रोज का काम देखने की चीज देवता लोग सब लाला कि कैसे इस दृश्य को देखे पर भाग्य में नहीं अब भगवान की जरा झांकी करिए वो सिर पर भगवान ने चूड़ा बांध रखा है बालों का उस पर मयूर पिच्छ का मनोहर मुकुट सुशोभित है और ये घुंघराली अलकों में बड़ा सुंदर सुखदेव जी वर्णन करते हैं बर प्रसून लवधात विचित्रतांग प्रोदान वेणुदल श्रृंगरवोत्सवाध्य वत्सांगण गीत पवित्र कीर्ति गोपी ध्रुवत दशी प्रवेश गोष्ठम बड़ा सुंदर भगवान का ये स्वरूप सौंदर्य मयूर पिच्छ का मुकुट लगाए हुए घुंघराली अलकों में केश राशि में विविध वर्ण के सुंदर सुंदर सुगंधित फूल सजाए हुए अलकों में घुंघराली अलकों में फूल फूल गूंथे हुए हैं और सारे अंगों में भी आज आज फूल के ही आभरण है सब पुष्पों के तमाम गहने बने हैं और वो वन की धातुओं से रंग बिरंगी धातु नई नई उन धातुओं से भगवान के श्याम सुंदर मधुर कलीवर पर विविध चित्र सारे के सारे सखावें बना दिए चित्र बना दिए और वो अगर बिंब बिरंबी बिंबा फल को भी लगाने वाले जो भगवान के अधर हैं उन पर वो कभी तो बंसी लेकर के और रसमई वो स्वर लहरी का सृजन करते हैं और कभी बच्चे ही न ठहरे घास के पत्ते को मोड़ सीटें बना ली और उसमें अपनी फूक दे करके लगे सीटी बजाने जोर से ऊंची ऊंची सीटी बजाते हैं कभी मधुर पान छेड़ देते हैं और कभी सिंगा लेकर बजाते हैं तो वो मधुर जो भगवान का ऊंचा स्वर है मेघ गंभीर में नादित हो उठता है इस प्रकार बजाने के काम में लगे मुंह से बजावे हाथ से बजावे और कभी काफी बजाने लगे सारी सखा मंडली परमानंद में डूब रही अब वो बीच बीच में ये सब बोले देखो ना ये आज जाके माँ से कहना है कन्हैया ने अजगर को मार दिया बीच बीच में सब कीर्ति गा रहे और मधुर गीत गा रहे और वहां पर तालवा सब मिल जाती है अपने आप स्वरों ने तालों ने राग रागिनों ने देखा कि यही तो मौका है वो मिलाते रहते मिलाते रहते छोटे रहते मिलता नहीं ये सब अपने आप मिल जाते ये जहाँ सारे राग आकर के मिल जाते हैं वही भगवान का पाद पद्म है और जहाँ ये विश्रृंखल होते अस्त व्यस्त होते हैं वहां जगत है यहाँ सारा अस्त व्यस्त मिला के फिर दुबड़ा फिर मिला फिर दुबड़ा अरे मिलाना तो उनके चरणों में पहन जाओ सब मिल जाएगा अपने आप सारा व्यवस्थित हो जाएगा तो नंदन नंदन के सूर्य का वर्णन याद करते देखो ना ये अंदर चला गया साग के अंदर अंदर गया कैसे निकल आया ये और वो देखो ना उसके अंदर से क्या एक क्या एक आग से निकली और वो भैया आग तो खड़ी रह गई बाहर ही और जब ये निकला तब अंदर गई इस प्रकार वो परस्पर विषगान करते हुए गाना और नाचना बजा तो नाचे सब बछड़े उनको ले करके नाचे बोले आज तो हम लोग सब मौत के मुंह से बच करके आए हैं बच गए ना अरे मर गए तो सब जहर की ज्वाला से तो सब का सब बस मस्त हुए चले जा रहे हैं सब कुछ भूल गए और इधर इधर महाराज क्या था ये गो गोचारण के प्रसंग में आगे ये विषय आवेगा श्री माताओं की और गोपांगनाओं की जो स्थिति होती थी वो तो बड़ी विचित्र दिन भर तो वे इन्हीं का गुणगान करते आज ये खेल खेला होगा आज ये किया होगा आज ये किया होगा जगत की स्मृति घर में रह करके भी घर का बंधन नहीं कुछ नहीं तो वे सब के सब बात्सल्यवती गोप सुंदरिया अपने अपने सारे कार्यों को छोड़कर सब कुछ भूलकर और उन्मादिनी से होकर के तमाम दरवाजों पर खड़ी हो गई आकर के गलियों में खड़ी हैं उनके नेत्र उनकी दृष्टि केंद्रित हो उस दिशा की ओर जिधर से श्याम सुंदर आने वाले उस वन पथ की ओर ही उनके कान लगे कहीं दूर से मुरली धुनी सुनाई पड़े आते होंगे माने कानों ने दूसरे सारे शब्दों को सुनना बंद कर दिया आंखों ने दूसरी ओर देखना बंद कर दिया मन तो उधर लगी रहा था इतने में सुना बंशीनाद बजा दूर से बंशी बजी बंसी बजी देखा आते होंगे आते होंगे प्रणाराम श्री श्याम सुंदर आते होंगे इतने नहीं उन श्री गोपांगनाओं के दृगो में वो श्याम ज्योति परिपूरित हो गई आ गए श्याम सुंदर अब आगे की दशा का चित्रण कौन करे न कवि के पास भाषा है न कवि के पास वर्णन करने की शक्ति है वो स्वयं डूब गया ऐसे विविध श्रृंगारों से सुसज्जित भगवान अद्भुत श्रृंगारों से विभूषित परम रमणीय चेष्टाओं से पद पद पर ये सुख सरिता बहाते हुए और उसमें अवगाहन करते हुए सखाओं को उसमें निमग्न करते हुए ये गोपी जन नैनानंद वर्धक श्री श्याम सुंदर मदन मोहन ये ब्रजपुर में प्रवेश करते इस प्रकार भगवान का प्रवेश हुआ बजरानी तो उसकी बड़ी विचित्र जो दशा है वो तो शाम होती नहीं उसके पहले ही बोले आज कुछ पहले आ जाए तो क्या हरज है वो देखती है कि एक दिन तो पहले आ जाएगा कोई बात नहीं है मैया के मन में तो पर नहीं आया फिर बाहर आ खड़ी हो गई कान लगाया अभी तो सुनाई नहीं पड़ी मुरली की ध्वनि वो तो दूर से उससे कह रखा है ना कि कन्हैया दूर से तू जब आवे तो मुरली बजा दिया कर